पच्चीस शंबे है यक सितंबर साल दो हजार अजदें ए रेडियो जुम्बिश है आजमाइशी शंकारियन और मना किया वलोच आलंगुशित कंदील बलोच चद्रोसा पेश सराल बलोच नौदरबर नसीम अजीम जामनंद होशा पाकिस्तानी लश्करिया आवार जनगपत बेगवा कुर्तग आदीनग शपा पाकिस्तानी लश्करिया मा मशक त्रादाना लोगिया दौर कुर्तगो चाऊदा महमूद गुलाम जान दसगीर कनगपत गोवत बुरतग पाकिस्तानी लश्करिया महमूद दसगीर कनग पज्जीगा लोग चीज़ हम दुज तगन तो चुक को जनिन नहरदा तगन नूशकिया पाकिस्तानी लश्करा यक्के कुशगो याजदा मर्दों में दसगीर कनगे बटाल दातग बबेगवाहाँ शुदकशिंग गिदानत से हज़ारों यकसद हफ्ताद रोज सरजम बीएनए में पाकिस्तानी जोराकियानी बिगीरिया जर्मनी शार हनूपर जहरशानी नौदरबर हुशदार दातक के उत्तल शाहदर बरजा चार गुजार गुन नौदरबर वती रोशा गहतर बिकनंद अगना किलासम बाईकाट कनें निब्यायत सरजमे आला गोशदारें बलोच नौदरबर नसीम अजीम जहमनंद होशाब पाकिस्तानी लश्करियाँ आवार जनगपत बेगवा कुर्ताग नसीम च होशापा पवानगा शाला रहोगा बितक के राह पाकिस्तानी लश्करियाँ च गाड़िया ईर कनगपत गुवत बुरताग ओ ई दरगता च आयानी नीमगा नौदरबर कहूला है चरंगे सरपदी दयाग नबिताग के नाम गितगे नौदरबर कुजाम मयारा दसगीर कनक बितग और ना ई गप मन्नतक के नौदरबर आयन दसगीर और जिंदानी कुर्ताग च पाकिस्तानी सरकार नीमगा बलूचिस्तान और हम च पाकिस्तान चीर दस्तें दिगा उदामगा पाकिस्तानी लश्कर लेगा बिगीने मरदम मजन के सासियत चिर राहबंद और आमिर से परमाना डन पाकिस्तानी लश्करिया दसगीर कनगा पद बीगवा कुर्तगन और बलूचिस्तान रूच परूच के सास गीश बयानिन कसानी ಬಾಜೆನ್ सरकारी जोड़ ನೌಕೆं बी एन बीएनपी मेंगले सरूक अख्तर मेंगले पाकिस्तानी पार्लिमा ने बाहर पद एक अब जनक बितक के छ पाकिस्तानी लश्कर नेमगा आवाज जनक बेगो कनक बितके मर्दों यलो दयक बयगायन भले धूमी नेमगा ए गेंदक बियागायन के गार बेगो कनक पाकिस्तानी लश्कर यानी तबीयत दनिंगत बरजायन और पाकिस्तानी पार्लिमा ने तहा अख्तर मेंगल जयगीर बेग इशिय तहा हिच रंगे कमी नयत का जानक बीबित के अख्तर मेंगल अगुम पाकिस्तान बुंजाई सरकार जोड़ कनोकें गल पाकिस्तान तहरीक इंसाफा मुसाम कुर्तक और सर वजीरिया वती गिचेन दांक इमरान खान वंडा दाताक रसांगदरी आलानी रिदा अख्तर मेंगला को नोके सरकारा हमीर डक्का पद कुर्तक के बलूच बेवाह मर्दों के पाकिस्तानी लश्करा गिप्तगो वती चेरें जिंदाना बंदी कुर्तगन यलो कनक बयान भले जहन्नम से पीशी बुरतगीनानी यलव कनगा पाकिस्तानी लश्करी रोज पर रोज गेश्तर मर्दम गारो बेगवा कनगाएं बरोच बेगवाहें मर्दमानी तवार नीमगा जतगें शुद्ध कश्यें जारशानिय गिदाना मरूची से हज़ारों यकसदो हफ्ता रोज सरजम बितगो शुद्ध कश्यें जारशानी दनिंगत बर जाएं गो बेगवाह मरदमा हमदर्दी दरशान कनगा अतकगे मरदमा गप जनाना बलूच बेगवाहानी तवार कुमक सरकमाश मामा कदीर बलूचा गश्तग अंचुश के इंडोनेशिया रुदरत की तीमूर जेड़े सरा आमिद के से परमान पुष्ट जतगन तो रुदरत की तीमूर मरदमानी बेगवा कनगा कुशगे दृच बर्जा दाश्तग बलूचिस्ताना हम हमी पेमेंत मामा कदीर गश्तग पीशीगे सकारा चार हज़ार बलूचानी बेगवाही मन्नतग भले नोखें सरकार घुशित के तीवगा चेल्लो दो मर्दम गारें भले रास्तेंगा इशंत के ई वहदी पाकिस्तानी आज़ार जहानी तहा चेल्लो पंच हज़ार मर्दम बंदन तो आज़ार सग गायन जर्मनी शार हनूपरा मरूची बलोच नेशनल मूवमेंट नेमगा पाकिस्तानी जोराकियो जनीन चुक्कानी आवार जनिए बिगीरिया जारशानी कनक बिताग जर्मनिया बितगें जारशानिया था बलोच सियासी कारकुनानी पज्जीगा इंसानी उकबालानी जना हमद हरजुर्ताग जारशानी कनोकानी दस्ता पाकिस्तानी जोराकियानी ईरजनगा ताक नबिश्ता और जर नबिश्त बितगंत के आयानी सरा पाकिस्तानी जोराकियानी दरगता नबिस्तक बितग आया बेगुआ मर्दमानी अक्स हम गुम बितगन आया पाकिस्तानी बिगीरिया गुम बुरजिन तवारा ओगाम हम जतग गो मुचिया बी एन एम जर्मनी हंकीन बास फरहाद बलूचा गश्तक बलूचिस्ताना हफ्ताद सालंत के पाकिस्तान जोराकियानी आमाचंद उन्नी जोराकी हमें जहाँ सरंत के पाकिस्तानी लश्करियानी दस्ता बलूचुक को जनिन हम पहरेजनान आइए वशगत पाकिस्तानी आज़ार जहाँ मजहबी सस्सा दारों के मर्दम बलोच जनीनानी बेनंग कनगा बलोच सियासी कारकुनानी जांगोलन जूनानी चगल दयगा गूनन बीएनए बासकम पंताक हम शेंग कुर्तक के आयानी तामन जर्मन जुबाना बलूचिस्तान जावरानी दरगता निविश्ता बित्तक बलोच नौदरबर गामगीजी पत्थर उत्तल हंकीन कमाश इंजमाम व आदगरा वती यकजाहिन दर्शान तहा गुश्तक चल असबीला शाहदर बरजाए चार गुजारानी नीमगा गुम बलोच नौदरबरा नारवाई बरजाहिंद ई रंदी हम गो नारवाई वानक बुनगेज बित्तक दर्शाना गोशक बितक माँ शाहदर बरजा नोदर बरानी दुरस्तें वर्दनजा बंद कनक बितगन ओ कारमंद उस्तादानी वर्दन वर्दनजा पचंद आयानी गोशगत नेजगारे नोदर बर दा किलोमीटर राह पंद बुर्रन तो होटलन रवंद के ई ग्रानिया पर नोदर बरा मजनी हरचे आया हुशदार दातक अगान शाहदर बर जाए चार गुजारा वती रोश मठ नकोर्त माधुर सिंह किलासानी काट कनें Martinha Shenkari Amebutã, Dambanda Mokalotam.